उसका कोई शरीक नहीं है इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं उसके आगे सबसे पहले सर झुकाने वाला हूं